मूसा ने वापस आकर कहा हारून जब तुमने देख लिया था कि ये लोग गुमराह हो गए हैं तो तुम्हें किस चीज ने रोका था